बसमीम वलौकाल मुस्तशरफन लजाल कल एक लफ्ज़ आया था जिसके अंदर सिकल को बयान किया गया था मुस्तशर ठीक है ना मुस्तशर और उसकी जमा लाए थे मुस्तशरातन वदायरु मुस्तशरातला फिर इसके फिकल की वजह अल्लामा खलखाली रहमतुल्लाह आलह ने बयान की थी कि शीन ता और जा के दरमियान और इनकी सिफात में आपस में टकराव है इस वजह से इसके अंदर शिकल पैदा हो गया है अगर मुस्तशिरुन की जगह मुस्तशरीफुन कहते मुस्तशरातन की जगह मुस्तशरीफातन कह देते तो फिर वो शिकल ख़त्म हो जाता और कलीमा फसी हो जाता उसके अंदर तनाफुर ना आता कहते हैं वफ़ी ही नज़र और इसके अंदर नज़र क्यों लिअन राल मुहमला था ऐज़न मिनल मजबूरती इसलिए के राय मोहमला यानी जा भी मजबूरा में से है यानी जिस सिफत की वजह से तुमने वहाँ कहा मुस्तशरून के अंदर कि हाँ, जा मजबूरा में से है इस वजह से इसके अंदर तनासुर पाया जा रहा है शिकल पाया जा रहा है शिकल की वजह से तनासुर पाया जा रहा है और तनासुर की वजह से कलीमा फसीह होने से निकल रहा है तो वो जो चीज़ उसके अंदर जो सिफत टकराव वाली उसके अंदर पाई जा रही है वही सिफत रा के अंदर भी पाई जा रही है तो इसलिए आपको वो कहना सही नहीं है कि आप मुस्तर की जगह मुस्तशरफुन ले आते तो वो शिकल ख़त्म हो जाता वो शिकल ख़त्म ना हो जाता इन्होंने इसको बयान किया था और उससे ये बात साबित करना चाह रहे थे कि शक्ल की वजह सिफात का आपस में टकरा जाना है तो इससे ये मालूम हुआ कि सिफात अगर आपस में टकरा जाएं और तो सिफात एक दूसरे के मुतवाद जमा हो जाएं तो ये सबब नहीं है शक्ल का बल्कि सबब वही है जो ऊपर बयान किया गया था जबता वही है जो ऊपर बयान किया गया था क्या कि ये इंसान का जोक सही बतलाएगा कि इसके अंदर सिकल है ये बात कल बतलाई थी आगे वकीला इन्ना कुरबल मखारजी सबली अलमखिली बिलफसाहती इसमें अलामा जोसैनी रहमत आले ये बयान फरमा रहे हैं कि कुरब मखारिज यानी मखरजों का करीब करीब होना जहाँ से हरूफ निकल रहे हैं उन हरूफ की जगह करीब करीब है तो इस वजह से इनके अंदर शिकल पैदा हो जाता है और तो शिकल पैदा होता है तो तनाफुर तनाफुर तो कलिमा गैर फसी तो और कहा गया है कि कुरब मखारिज ये सबब है शिकल का अल बिल फसाहा जो फसाहत में मुखिल है लेकिन ये इनका कहना इस पर इश्काल होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है अलम आहद और आहद इसके अंदर हमजा है आयन है और हा है आयन निकलती है वस्ते हलक से यानी हलक के दरमियानी हिस्से से और हमजा और हा ये निकलते हैं अफसा हलक यानी हलक के आखिरी किनारे से जिसका कुछ असर सीने के अंदर भी महसूस होता है तो दोनों पूर्व मखारिब से यानी हलक से ही निकल रहे हैं पूर्व हल्के कौन कौन से हैं हमजा हा आइन आगे ना तीनों और ये तीनों क्या हैं हरूफ हल्की में से हैं एक ही जगह से निकल रहे हैं मकर के करीब करीब हैं तो कहते हैं कि देखो कुरान के अंदर करीब करीब मखरज वाले हरूफ एक कलीमे के अंदर जमा हुए तो मालूम ये हुआ कि जो आपने सबब बयान किया है कि कुरब मखारिज ये सबब भी ये सबब भी शक्ल का और ये सबब भी शक्ल का नहीं है मखारिज का करीब करीब होना ये भी शक्ल का सबब नहीं है क्यों अगर ये शक्ल का सबब होता तो, तो कुरान करीम के अंदर विदित नाती है ना क्योंकि कुरान करीम के अंदर अगर है अगर तुम कहो कि हाँ सिख ले तो फिर उस सूरत में ये होगा कि भाई इसके अंदर तनाफुर हुआ और तनाफुर हुआ तो कलीमा फसी ना हुआ और कलीमा फसीह ना हुआ तो इसका मतलब अगर कलीमा फसी ना हुआ तो इसका मतलब कुरान करीम फसाहत से निकल गया और कुरान करीम फसाहत से खारिज नहीं तो अल्लामा कौन सा अल्लामा रोजानी रहमत आल का ये कहना सही ना हुआ एक देखो वाना फ़ी कौल आहद फ़िकलन करीबन मिन हस्ती तनापुरी कलीमती अल्लाह ताला के फरमान अलम आहद में फ़िकलन करीबन फ़िकल करीब फ़िकल है करीबन मिन हद तनापुरी जो तनापुर की हद के करीब है फ़िकल है जो तनाफुर की हद के करीब है फ़ैखिल्लु भी फसाहतिल कलीमती वो कलीमे की फसाहत कलीमे की फसाहत में मुखिल है कलीमे की फसाहत में मुखिल है यानी इससे कलीमा फंसी होने से निकल जाता है ठीक तो इससे क्या मालूम हुआ कभी अलमाहद आहद कुरान करीम के अंदर है और ये जो कह रहे हैं कह रहे कि कलीमा गैर फसी है लेकिन चल जाएगा लाकिन कलाम लेकिन कलाम तवील जो मुश्तमिल हो अला कलिमतिन गैर फसीहतिन कलिम गैर फसीहा पर गैर फसीह एक कलीमे पर किसी कलीमे पर लायक रुझानी फसादी तो फसाद से नहीं निकलता है इन्होंने एक बात कह दी अपने कायदे को दुरुस्त करने के लिए कि भाई हमने ये कहा कि कुरब मखारिज शिकल का सबब है और कुरान करीम में जो अलम आहद है अलम आहद है अगरचे वहाँ कुर्ब मखारिज पाया जा रहा है वो कलिमा हंसी नहीं रहा लेकिन अगर कलाम तवील हो कलाम तवील हो और उसमें कोई एक कलीमा आ जाए गैर फंसी तो उसकी वजह से वो कलाम फंसी होने से नहीं निकलता ये बात इन्होंने कह दी सबर करो अल्लामा हमारे बहुत अच्छे हैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी इसको सबको रद्द करते हुए चलेंगे अभी आगे पहले इनकी सुनते रहो इन्होंने एक दलील पेश की एक नज़ीर पेश की कुरान करीम से इन्ना अंजलनाहु हमने कुरान करीम को फारसी जबान में नाजिल किया है अरे कौन सी जबान में अरबी जबान में नाजिल किया है कतईस सिजिल लिलिल कुतुब कतईस सिजिल लिलिल कुतुब सिजिल ये फारसी का लफ्ज है तो देखो कुरान किस में हुआ फारसी जबान में हुआ अरबी जबान में हुआ तिजुलन तो फारसी जबान का लफ्ज है ठीक है इसको पेश करने के बाद ये इस तरह कहना चाह रहे हैं कुरान करीम के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी नहीं है अरबी नहीं है लेकिन कुरान करीम में है पर कुरान अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने कुरान करीम को अरबी में नाजिल किया उसके बावजूद उसके अंदर फारसी का लफ्ज आ रहा है तजील मिसकात के माना चिराग क्या आते हैं है ना साफ क्या आते हैं और ये हिंदी का लफ्ज है लेकिन अरबी में कुरान करीम के अंदर आया है कहाँ आया अल्लाह नूर वाला मसल नूर ही कमिश तो इससे मालूम हुआ कि अगर कोई एकाध कलीमा आ जावे शेर अरबी भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क्या कहा कि ये अरबी में नाजिल हुआ है इब्राहिम अरबी जबान का लफ्ज नहीं है लेकिन कुरान करीम के अंदर आया है और कुरान को तो क्या कहा अल्लाह ने कि अरबी में नाजिल हुआ है तो इससे मालूम हुआ कि अगर एक आध कलीमा आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वरना तो ये बात कहना किस तरह से हो इससे ये पेश कर रहे हैं कि देखो जब एक आध कलीमे गैर अरबी आने से कुरान करीम अरबी से नहीं निकल रहा और उसको अरबी में नाजिल हुआ फरमाया तो ऐसे ही यहाँ पर अगर एक आध कलीमा गैर फसी आ जाए तो ये कलाम फसी होने से नहीं निकलेगा कमा कलाम तवील जैसा के कलाम तवील नहीं निकलता है अलमुश्तमिल अला कलीमतिन गैर अरबियतिन जो मुश्तमिल हो गैर अरबी कलीमे पर कलीम गैर अरबी पर ऐसे कलीमे पर जो अरबी नहीं है अन अन अरबियन अरे किससे नहीं निकलता है अरबी होने से जैसा के कलाम तवील जो मुश्तमिल हो कलीम गैर अरबी पर अरबी होने से नहीं निकलता है तो ऐसे ही यहाँ पर एक आध कलीम अगर गैर फसी आ जाए तो कलाम तवील फसी होने से नहीं निकलेगा वफी ही नजर और इसके अंदर नजर मुसनफ़ अली रहमान दूसरों की बातों को लाते हैं और लाने के बाद में फिर उसमें नज़र कायम करके उनकी बात को रद्द फरमा देते हैं आसान के लिए दुरुस्त बनाना ही नजर और इसके अंदर नजर एतराज में ये इनकी जहानत की और इनके इल की बात होती है ये ऐसे तो इन वाले हैं कि इनकी नज़र उन सब के कौलों पर भी है कि ये बात ये बात इन लोगों ने कही है और इसके अंदर ये बात जो है सही नहीं है ये बात कुरान से टकराती है फला जगह से टकराती है ये उनकी बात को पेश करके आगे जो उसका हाल पेश कर देते इन्होंने पेश नहीं किया हमारे सामने कोई चीज़ आई एक बात आ गई कि भाई पूर्व मखारिज ये शक्ल का सबक है और हमने देखा के अंदर पूर्व मखारिज है और अब हम क्या होगा हमारा दिमाग घूम जाएगा इन्होंने इन सब चीज़ों को लाकर और वो सारे इश्कालात को दूर कर दिया वफी नजर और इसके अंदर नजर है लिअन्न फसाहतल कलिमाती माखूदतन फी तारीफी फसाहतल कलामी मिन गैर तफरीक़तिन बैन तवीलिन व इसलिए कि कलिमात की फसाहत माखूज है ली गई है मलहूज है कलाम की तारीफ कलाम फसाहत कलाम की तारीफ में तवील और कसीर के दरमियान फ़र्क किए बगैर क्या मतलब? मतलब ये है फसाहत कलाम की तारीफ क्या है फसाहत कलामी सलामत हो सलामत मिन तनाफुल कलिमात माँ फसाहती कलिमाती के कलिमात के फसी होने के साथ साथ वो उन तीनों चीज़ों से क्या हो खाली हो तनाफुर हरूफ ना हो है ना और मुखालफत क्या ना हो गौसे तालीफ ना हो और ताक़ीद ना हो ठीक है ना गौसे तालीफ ना हो ताक़ीद ना हो और तनाफुर कलिमात ना हो मा फसाहतिहा कलिमात के फसी होने के साथ साथ तो उसके अंदर जो है कैद ये लगाई गई है कि इसके तमाम कलिमात क्या होने चाहिए फसी होने चाहिए जब जाकर कलाम फसी होगा रही अरबी की बात तो अरबी के अंदर ये खैर नहीं है कि तमाम अल्फाज जो है अरबी होने चाहिए जब भी कलाम कलाम अरबी होगा तो चूंकि अरबी के अंदर ये खैर नहीं है तो इसलिए आपका अरबी पर इसको प्रयास करना कलाम फसी को प्रयास करना ये प्रयास माल फारिक है यानी ये प्रयास हमारा सही नहीं है और इसके अंदर नज़र है इसलिए कि कलिमात की फसाहत माखूज है कलाम की फसाहत की तारीफ में तवील और कसीर के दरमियान फ़र्क किए बगैर हाँ, यह नहीं कहा कि तवील कलाम हो तो कोई बात नहीं कसीर हो तो बात नहीं बल्कि तवील और कसीर के फ़र्क के बगैर वहाँ पर बयान किया गया है अला फसरल कलामा बिमा लईसा बिकलीमती यहाँ तो इल्ज़ाम जवाब देते हैं अलावा अजीज ये के काइल ने कलाम की तफसीर की है मा लईसा दिन से इतनी सी बात कही और इतनी छोटी सी बात के अंदर इन्होंने एक जवाब दे दिया है पीछे आया था यहाँ आया था पीछे फसाहत कलाम के अंदर अलफसाहत यूसफ़ बेहल मुफरत देखो जना बारह सफ़े पर बारह सफ़े पर देखो अलफसाहत देखा अलफसाहत यूसफ़ बेहल मुफरत वल कलाम फसाहत के साथ मुफरद और कलाम मुस्तिफ होते हैं आगे बताया इसी के अंदर मिसल कलाम इन फसील मफसर फसील कीला ये कीला है ना कीला यहाँ से देखो अल अलमुराद बिल कलाम माले सभी कली कलीमती मुराद कलाम से वो है जो कलीमा ना हो इसके अंदर <clears throat> दो बात आई थी एक चीज पेश की थी मरकब शाम एक होते हैं मरकब ताब एक होते हैं मरकब नाकिस मुरकब नाकिस कलाम में दाखिल है या कलीमे में दाखिल है मुफरत में दाखिल है आया था ना याद है कुछ बड़ी बहस हुई थी पर मरकब नाकिस कलाम में दाखिल है या कलीमे में दाखिल है बाज कहते हैं कि ये कलाम में दाखिल है और इमाम ये हमारे मुसनफ़ साहब कहते हैं कलीमे में दाखिल क्योंकि कलाम से मुराद है कलाम ताम ठीक है ना कलाम से मुराद है कलाम साम जब कलाम ताम मुराद है और वो कलाम ताम नहीं कलाम नासिस है अब वो कलाम ताम कलाम से कलाम ताम ही मुराद है तो इसलिए कलाम में दाखिल नहीं होगा ठीक है ना वो किस में दाखिल हो जाएगा कलीमे में दाखिल हो जाएगा और वो कहते हैं कि जो कलीमाना हो वो कलाम है तो वो मुरतब नाफिस तो को किस में दाखिल कर देते हैं कलाम के अंदर दाखिल कर देते हैं इसलिए कि वो मुफरत तो होता नहीं कई कलीमे होते हैं अगर उसके इसनाद नहीं होती कि वो कलीमा मुफीद नहीं होता इसका खुलासे के तौर पर ये समझो कि मुरकब नाकिस कलाम में दाखिल है या कलीमे में दाखिल मुसनफ़ कहते हैं कलाम में दाखिल है मुसनफ़ कहते हैं कलीमे में दाखिल और दूसरे बाज कहते हैं कि कलाम में दाखिल ठीक है अब यहाँ आ जाओ अपने सबक के अंदर अलावा अजीज ये के काइल ने कलाम की तफसीर की है माली सब कलीमा से जो कलीमा ना हो अब देखो जो कलीमा ना हो कलाम हो है ना और कलाम में आप दोनों आ गए ताम भी और मरकब नाफिस भी कलाम भी कलाम नाफिस भी तो अब जो ये खराबी आएगी कौन सी वाली शिकल वाली तो जो खराबी आएगी कलाम के अंदर तो मुरकब ताम में भी आएगी और मुरकब नाफिस में भी आएगी कलाम ताम में भी आएगी कलाम नाफिस में भी आएगी उनके कौल के अतबार से और यही खराबी हमारे वाले में देखो यानी मुसनफ़ अली रहमा के कौल के मुताबिक देखो तो खराबी एक चीज़ में आएगी किसमें कलाम शाम के अंदर तो कहते हैं कि आपने पीछे कहा था माली से भी गली मसीद तो अगर हम ये वाली बात मान भी ले रहे हैं तो उस वक्त में भी देखो तुम्हारे नज़दीक तो दो चीज़ों में खराबी आ रही है और हमारे यहाँ पर इस एक में खराबी आ रही है तो खराबी इसके अंदर फिर भी आ रही है तो एक जवाब तो इन्होंने इल्ज़ामी ये दिया ठीक है अरे आगे पल्ले में धरे दूसरा वल कयासु अलल कलाम अरबी जाहिरतुल फसाद जाहिरुल फसाद और कयास करना कलाम अरबी पर जाहिरुल फसाद है यानी इसका फासिद होना जाहिर है मैंने बता दिया पीछे इन्होंने कलाम अरबी पर कयास किया था कलाम फसीह को कभी जिस तरह कलाम अरबी के अंदर एकाध कलीमे के गैर आरबी आने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कलाम अरबी ही रहता है ऐसी एकाध कलीमा गैर फसी आ जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसी को फरमा रहे और कयास करना कलाम अरबी पर ये जाहिर फसाद है इसका फसाद ज़ाहिर है वाला उसलिमा और अगर तस्लीम कर लिया जाए मान लिया जाए आदम खरूज सूरत अनिल फसाहती सूरत का फसाहत से ना निकलना सूरत का फसाहत से ना निकलना क्या मतलब अरे जब कोई किसी आयत के अंदर कोई कलीमा गैर फसी हुआ तो कलीमा गैर फसी हुआ वो आयत भी गैर फसी हो गई और फिर पूरी सूरत गैर फसी हो गई कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम ये मान लेते हैं कि एक आध कलीमा गैर फसी आ गया तो उसकी वजह से वो सूरत गैर फसी नहीं होगी बल्कि फसी ही रहेगी ठीक है तो उस सूरत में बड़ी ख़राबी लाजिम आती है बड़ी ख़राबी ये लाजिम आती है कि अल्लाह ताला को क्या इल्म नहीं था अल्लाह ताला को इल्म नहीं था कि ये जो कलिमा है गैर फसी है अगर ये कहो कि इल्म नहीं था तो जहल की नस्बत अल्लाह की तरफ होगी पर अगर ये कहो कि ये इल्म नहीं था कि अवला और बेहतर ये है कि कलाम कलीम फसी लेकर आया जाए तो उस वक्त में भी जहल की नस्बत अल्लाह की तरफ हो रही है कि अल्लाह को मालूम नहीं और ये नस्बत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा या अगर ये कहा जाए कि इल्म तो था लेकिन ला नहीं सकते थे तो आज की नस्बत अल्लाह की तरफ होगी कि अल्लाह आजिज थे कलीम फसी लाने से कली में फंसी लाने पर आजिज लाने से आजिज तो ये नस्बत कर देना ये बिल्कुल हो नहीं सकता इसलिए कि अल्लाह ताला आजिज से भी और जहल से भी दोनों चीज़ों से पा अल्लाह ना आजिज है किसी चीज़ से और ना किसी चीज़ से जाहिल है तो जब ये बात है तो फिर अरे जब ये बात है तो आपका ये कहना कभी एकाध कलीमा गैर सस्ती आ जाए तो कोई बात नहीं ये कहना सही नहीं होगा वरना तो अल्लाह की तरफ जहल की नस्बत आएगी या आजिज की नस्बत आएगी वाला वो और अगर तस्लीम कर लिया जाए सूरत के फसाहत से ना निकलने को समुजर्रद इस्तेमाल कुरानी फमुजर्रदू मुंह मुंह मुंह फमुजर्रदू मीम है ना एक आगे नीचे हल्का सा बना हुआ मीम बना हुआ किसी के में साफ सुथरा आपने पहले भी आरंभ को तो बताया फमुजर्रद इस्तेमाल कुरान आला कलामी गैर फसी बस कुरान का मुश्तमिल होना कलाम गैर फसीह पर बल्कि कलीम गैर फसीहा पर मिम्मा उन चीज़ों में से है यकूद इला नस्बत जहली वल अजती जो नस्बत की तरफ उन चीज़ों में से है कि जो पाद यकूद के माना होते हैं हकाना ले जाना जो ले जाती है अल्लाह ताला की तरफ जहल और अजज की नस्बत को यानी अल्लाह ताला की तरफ जहल और अजज की नस्बत इस सूरत में क्या होती है हो जाती है हाँ। ये उन चीज़ों में से कि जो ले जाती है नस्बत की तरफ किस चीज़ की नस्बत की तरफ जहल और आज की नस्बत की तरफ किसकी तरफ होगी वो नस्बत फिर अल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ या फिर ताला को आगे जोड़ दो ताल का कबीरा अल्लाह ताला इससे बुलंदो बरतर है और पाक है Thank you.